भगवान जब जी की छब्बीसवीं पौड़ी कहती है अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवई अमूल ले जाए अमूल भाई अमूला समाय अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल परवान अमूल बख्शीश अमूल निशान अमूल करम अमूल फुरमान अमूलो अमूल आखिया न जाए आख आख रह लिवलाय आख वेद पाठ पुराण आख पढ़े करें बखियान आख वर में आख इंद आख गोपी तय गोविंद आख ईसर आख सिद्ध आख केते केते बुद्ध आख दानव आख देव आख सुरनर मुनिजन सेव आख केते आख आख पाए केते कही कही उठी उठ जाए एटे कीटे होर करे ता आँख ने सकई के के जे बड़ु भावे ते बड़ु होय नानक जाने साचा सोय जे को आखे बोल बोल बिगाड़ ता लिखिए श्री गावारा गावार भगवान इस पद का अर्थ हमें समझाने की कृपा करें नानक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 अमूल आवई अमूल ले जाए अमूल भाई अमूला समाये अमूल धर्मो अमूल दीवाणु अमूल तुलु अमूल परमाणु अमूल बख्शीस अमूल निशाणु अमूल कर्मो अमूल फरमाणु अमलो अमूल आखिया न जाए आख आखी रहे लिबलाई पहली बात कि वह अमूल्य है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 उस रुमाल के साथ प्रेसी से तुम्हारा नाता जुड़ा है इस बात को कोई दूसरा न जान सकेगा दूसरे के लिए वो सिर्फ रूमाल होगा तुम्हारे लिए वो सिर्फ रूमाल नहीं है किसी गहरे अर्थ में तुम्हारी प्रेसी उस रूमाल के साथ संयुक्त है वो रूमाल तुम्हारी प्रेसी की हवा को छुआ है उस रूमाल ने तुम्हारी प्रेसी के हाथों में स्पर्श पाया है प्रेसी ने उस रूमाल का चुंबन दिया है और तुम्हें भेंट किया है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 आज इतना है